65, take one. So, her, which, why did her caste want try to stop her singing? रुकमा तो मारतब देखिए अब यूँ है बात के थने थारी यात्रा आदमी गावन बजाऊँ रोकने की कोशिश करता रहता हाँ क्यों करता है शाह हमारा जाते में कोई गान बजान जावे नहीं हम्म। तभी तो वो क्या मैं थाना तो गान जान दिया नहीं अभी प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा नहीं है तो दे हमारे प्रोग्राम कोई जाती दे नहीं ये कान वो रोक पहला तो गावन जाता गाव बजावन कोई जावे नहीं जजमाना में जावे जजमाना में गान पर जान जावे जो कहते नहीं जावे Why, why did she try to continue singing even though they wouldn't let अभी वहाँ के तने जात वाला रोकने की घनी कोशिश करी लेकिन तू हाल भी जावे तने कई तकलीफ पड़े जो कोई કોઈ तो तकलीफ में बता सके ये भी पावा मन नहीं लीजिए जब मैं अकेले नहीं हाल सकूँ नहीं बैठ सकूँ नहीं उठ सकूँ वो कोई साथी मेरे चाहिए उठा नालो बैठा नालो एक ले मन नहीं चल सकूँ How did they try and stop her? अब जैसे अपन बीच महीने जैसे शुरू शुरू प्रोग्राम में आवा लगी नहीं हम्म। तो थारा मामान ये बस जो लोग रोकता वे की कर कहीं करता घर घर या पूग जाता कहीं करता अच्छा घरे आता हाँ। घरे आने सब मैं तुम रोकता न करता हम्म। मैं नहीं जान दिया हम्म। लड़ाई टंटा बेता था लड़ाई टंटा करता और तुम मतलब स्टेशन पे जाया करते तो भी रोकवारी कोशिश करता हाँ। स्टैंड पे जाऊँ तो झगड़ा टंटा होता रहता था साइकिल भी साइकिल पे भी साइकिल पे बैठे जाओ हम्म। तो साइकिल रोकने की कोशिश करी कहीं भी मुझे वो रुकियो की कर बात हुआ और रुके तो यहाँ कैसे हमारा पहले महीना आयो झगड़ा भी जा करे और बाद में हमारा बच्चा भी जा सब खोज लिया वो कारण में भी प्रोग्राम रे वास्ते जात में टावर भी जा कोई नहीं दिया हम्म। ये कारण पचे मैं कोई ये जयपुर रहा आना बाद में कोई प्रोग्राम मैंने सोची भाई आप मन प्रोग्राम नहीं देवा दे जदे कमल दादा जी मैं मत मेहरबानी करी उन कारण मैंने थाना में पकड़ा दिया वो बाद में मारा बच्चा दे दिया ये हमें अब अखबार कोई झगड़ा न कोई जा पर शांति बाबरी ये बंगल है जो मेरे साथ मरेगा वो लेणु देणु उठाणु बैठणु वो बंगल रिक्शा बंगल रही है 66, take one. If you ask uh, which community she comes from and what their attitude now is to the thing. Uh, तुम की जात रामायण है मुसलमान मांगने हार कहीं काम है बिल्कुल मांगने आ रहा गाना बजाना रो बोल पूरी तरह समझान बता गीत गावे ढोल पे गावे बाजे पे गावे कमाचे पे गावे عن ओम है कटने बाण में है मंगनियार लोग मंगनियार बाणवेर में है बांद्रा में है कोटड़े में है ये धाट में है अड़वे गांव में है हम्म। बिशु गांव में है गोंगा में है सब अब तू तो गावे बजावे बारे आवे जावे तो था यात्रा लोग यूं राजी है के बेराजी है के बे कहीं कहवे ओ मारे गांव रे लोग तो नाराज राजी कोई नहीं नहीं, हम्म। ये मैं तो माड़े जबरदस्ती हूं को आन नहीं दे वो तो रोक इज करे हम्म। आ ये के वो आप रहा तो मैं पूरा करे बस हम्म। तो तो मारवारी कोशिश है लठी में पीटवारी कोशिश है तो अपन कमल कोठारी जरा हाथ है मेहरबानी ये कारण वो हमारे हाथ नहीं लगा सके Um, when did she first start singing? Who did she learn from? सबों पहला तू गानो कद शुरू करियो ने कौन थन सिखायो કે સમૂહ પહેલાં ગાણો મારી માં હે ઠીક ઠીક ગાણો શીખાય પૂરો ગાણો નહીં શીખી હું પછી મારી નાની રી બેન હે ઓ બાદલી નામ કરે उहे મને ગાણો શીખાય જે પૂરો ગાણો મેં વણગુડી શીખી આ મારી માનો ગાણો શીખાયો તો મારી મારી ભુવા શમદા ઉએ શીખાયો હા તો उन गानों में बादली बुढ़ा सीखा ये ओलग रा गाना जो तू सती जी थान पे गाती हाँ। रानी जी रे वे कौन सिखाया ओ मारी माँ सिखाया और ओलग पे गाती हो तो हाँ, हाँ? हाँ। वटू क्यों हटाया रो तने तो तुम पसे मैं थान छोड़ दिया ये पे मार जाते रह रहे बनी को नहीं मैं तुम थान छोड़ दिया पचे बंगल उगामा ले प्रोग्राम दे रहे कमल को अठारह जीरे ले आए वो बंगल मात है मारा मात कास्ट नाराज है For whom did she, for whom and why she performed originally? Mm-hmm. Could you ask that? For whom did she sing originally and why did she perform? शुरू शुरू में तुम जो गाना गाया तो की किरे घर में जान गाया जजमा हम्म। नाम गाया जजमा नाम हम्म। पहला पहला तो पहला पछे पछा वो एक मैं थान पे ओढ़ देनी हो जजमा नाम हम्म। यो बुढ़ेरा भाटी हमारे Yes, I asked. He said that. Mm-hmm. Um, okay, we can't. Okay sixty eight अब तो रुको बात तू बातें बताई नहीं जो हाँ। वे थोड़ी बातें पाची बता दे कि भाई पति है वे कट्ठे रहे कहीं आवे टाबर कितना है कहीं दिक्कत है कहीं नहीं है ये सब बातें बता दे देखो सर टाबर मारते ही नहीं हाँ एक तो बारह साल रहा है हम्म। एक आठ साल रही है हाँ। एक पाँच साल रहा लड़का अच्छा। ये है कि वो आदमी है जो हम्म। साठ वर्ष रहा है हाँ। बहुत बूढ़ा है हम्म। ये भी बीमार पड़ा ये ठोकरे बीमारी पे अंगूठा कटा है हम्म। आ ये मनक कोई रोटी देने को कपड़ों देने को हम्म। आन जान नहीं करे हम्म। जो को मारी माँ यार लड़को नहीं है नहीं भाई भी सगो नहीं है तो वो माना लड़को करें बैठा रहे आखिर उम्र दीकरो कोई नहीं है तो माना दी बैठो करें माँ ही राखे और जो आखिर मारा पाव नहीं है पाव वाला तो कोई राखे ही नहीं उम्र तो रोटी कोई नहीं दे यदि माँ यहाँ आ तो पेट रहा फर्जन है वो तो काट नहीं सके तो माँ ये कहो भाई तू आज घर वालों नहीं रखे तो मैं तो राखा जो को औलाद है मारो आखिर माँ ये राखी तो हमारा टाबर हुए पाले मोटा के हम नहीं हुए कपड़ो रोटो दिया आखिर में ना मैं कमावान खावा में आप जाओ खुद आदमी नहीं कमाई थी आज मैं हमारे पगा माथे खड़ा आखिर बच्चा आया तो मारी माँ ने उन्होंने कपड़ो खान पीन खुलावे भेजो और बाप नहीं दे आखिर थोड़ो गुणो जे पई हो उधारो मोहन मले कोई इंज देना शब बंगल दे आखिर मान बंगले राखे भी तो कोई नहीं रख सके बीजो अड़गा नेड़ा मामा है तो वो तो मारवा रहा है पण ना नहीं खावा रहा है पण लेवा रहा है पण देवा रहा नहीं ले जावे हाँ खान में तो आज ले जावे वो पैसा या हूं दे तो मारा गुडाम ले जावे पण आप खुद नहीं देने की कोशिश करे ले जावे के हाँ, पैसा हां मारा गुडाम ले जावे कई वो तो कहे के भाई ले आज पैसा चार रुपया को उधार दे और ले जाओ तो पाछा रुकमाना नहीं दे हम्म। के ले गया तो ले गया हमें मांगे तो पाछा जूती मारे तो गरीब रीति माता जी को नहीं She said about the money. या Okay, cut. You sang that. Well, this will be Wild Track to cover Slate 65, 66 and 68. So